वहां अंदर पहुंचने के बाद तारिक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हाँ डिटेक्टिव साहब अब बताओ किधर चलना है फटाफट खजाना ढूंढना शुरू कर दो और हाँ अगर खजाना मिल गया तो उसे जी भर के देख लेना उसके बाद ही मैं तुम्हें गोली मारूंगा ठीक है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ठीक है फिर उसने गुफा के भीतर चारों तरफ अपनी नजर डाली और फिर उसने तारिक की तरफ देखते हुए कहा मेरे पीछे आओ अभी यहीं पर खजाना मिलेगा देख लेना मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मेरी बात पर यकीन करो गुरुजी ने थोड़े गुस्से से भरे लफ्जों में कहा हम लोग पहले ही कई बार यहाँ पर खजाना ढूंढ चुके हैं यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन दोनों पुलिस वालों को मारो और बात खत्म करो अरे विक्रांत ने जमीन पर थूकते हुए कहा तुमने यहाँ देखा यहाँ देखा था तुमने सच में देखा था विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम खुद इसके बारे में सोचो अगर चंद्र गड्ढा और झरने का पत्थर आसानी से मिल जाता तो फिर इसे छुपा हुआ खजाना क्यों कहा जाता बताओ लेकिन पानी तारिक अपना पक्ष रखना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी बात पर यकीन करे ओ प्लीज कम से कम अपना दिमाग तो यूज करो तुम्हें अभी जो दिख रहा है सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो लेकिन तुम पास्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा तुम्हें पता नहीं है कि शेख मोहम्मद ने कैसे उस खजाने को पाया था हाँ क्या कैसे सभी ने कंफ्यूज होते हुए कहा सूखा था उस वक्त तब इतनी बारिश नहीं होती थी प्रोफेसर त्यागी ने बीच में ही बोलते हुए कहा हाँ सही बात विक्रांत ने कहा तब वहां सूखा पड़ा हुआ था जब शेख मोहम्मद ने वहाँ खजाना छुपाया था तब वहाँ पानी नहीं हुआ करता था तब ये ठीक नहीं है तारिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर उस वक्त वहाँ पानी नहीं था तो भी शेख मोहम्मद को इतना तो पता रहा होगा कि यहाँ आगे भविष्य में कभी पानी आ सकता है तो फिर वहाँ पर वो क्यों छुपाएगा क्यों नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा शेख मोहम्मद एक खजाना अपने आगे की पीढ़ियों के लिए थोड़ी ना छुपा के रख रहा था उसने खजाना अपने लिए छुपाया था और वो वहां से खुद ही खजाना लेकर जाने वाला था तो फिर आगे के समय के बारे में क्यों सोचता चाहे पानी आए या बाढ़ उससे क्या मतलब सोचो इस बारे में सोचो और शेख मोहम्मद ने ये खजाना चोरी से इकट्ठा किया था अब इतना स्वार्थी आदमी जो कि अपने राजा से गद्दारी कर रहा था वो भला किसी और के बारे में कैसे सोच सकता था वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और इसीलिए उसने ये खजाना सिर्फ अपने लिए ही छुपा कर रखा था वो तो बाद की स्थिति ऐसे बन गई कि वो खजाना उसके काम नहीं आया फिर विक्रांत ने तारिक की तरफ देखना शुरू किया और फिर वो गुरुजी की तरफ देखने लगा अचानक से यहाँ पे सन्नाटा छा गया सब लोग विक्रांत की बात सुनकर सन्न रह गए ठीक है फिर तारिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम सही कह रहे हो मैं भी उसी की तरह स्वार्थी हूँ चलो अंदर चलते हैं चलो देखते हैं कि अंदर खजाना है या नहीं वास्तव में विक्रांत इतने आक्रामक रूप से इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो तारिक और उसके आदमियों को अपनी बात पर यकीन करवाना चाहता था विक्रांत जानता था कि ये गुफा काफी छुपी हुई जगह पर बनी हुई है और दूसरी बात ये गुफा काफी गहरी भी है ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि गुफा के भीतर काफी अंधेरा होगा और ऐसे में इस स्थिति में अंधेरे का फायदा उठाकर विक्रांत यहाँ से भागने का भी प्लान बना सकता है वहां अंधेरे में जाने के बाद मौका मिलने पर वो जादुई चाबी का प्रयोग करते हुए वो अपनी हथकड़ी को खोल सकता है और फिर वो इनविजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हुए वहां से भाग भी सकता है क्योंकि इसके अलावा यहां से भाग निकलने का कोई और रास्ता विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था और एक बार अगर यहां से निकलने का रास्ता मिल जाए तो फिर वो नैना को भी बचा ले जा सकता है इसीलिए विक्रांत ने इतनी कहानी बनाई थी ताकि वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागकर निकल जाए हालांकि विक्रांत को यह भी पता था कि तारिक और उसके आदमियों के पास गन है और काफी हथियार भी हैं ऐसे में विक्रांत से जरा सी भी चूक होने पर ये लोग विक्रांत पर अटैक करने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे लेकिन फिर थोड़ी दूर तक अंदर जाने के बाद वहां का नजारा देखकर विक्रांत दंग रह गया क्योंकि अंदर अंधेरे के बजाय काफी उजाला था और यहाँ सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था वहां गुफा के भीतर छत की तरफ से काफी सारे हॉल थे जहां से सूरज की किरणें सीधे ही गुफा के भीतर पहुंच रही थी अब तो विक्रांत का सारा प्लान ही खराब हो गया अब तो ना ही विक्रांत अपने इंडिविजुअल लाइट टूल का इस्तेमाल कर सकता था और ना ही अपनी जादुई चाबी का इस्तेमाल कर सकता है विक्रांत का मन काफी उदास हो उठा मन ही मन ये प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी करके अब उसका अदृश्य शक्ति का सिस्टम चालू हो जाए हे भगवान अब तो कोई टूल दे दो कुछ तो करो बस कैसे भी करके आज यहाँ से निकाल लो वरना आज तो मरना पक्का है लेकिन आज तक विक्रांत की अदृश्य शक्ति को ना जाने क्या हो गया था कि वो चालू ही नहीं हो रहा था विक्रांत कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले और कितना भी हाथ क्यों ना जोड़ ले लेकिन फिर भी ये सिस्टम आज कुछ कर ही नहीं रहा था विक्रांत डरे मन से फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा उसे अभी भी पूरी उम्मीद थी कि आगे जाने के बाद उसे यहाँ से बच निकलने का कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा काफी अंदर जाने के बाद भी ये गुफा इतनी चौड़ी थी कि वहाँ एक साथ तीन आदमी चल सकते हैं इसके साथ ही तारिक का एक आदमी विक्रांत के ठीक पीछे पीछे उस पर बंदूक ताने चल रहा था अब अगर विक्रांत जरा सी भी इधर उधर की हरकत करता है तो फिर ये उसे गोली मारने में जरा सी भी देर नहीं लगाएगा वहां गुफा के भीतर काफी ठंडा एटमोसफेयर था इसके बाद भी डर के मारे विक्रांत के माथे पर पसीना छाया हुआ था इस वक्त विक्रांत काफी टेंशन में था जब ये लोग इस गुफा की थोड़ी और गहराई में पहुंचे तब जाकर धीरे धीरे यहाँ की लाइट कम होती जा रही थी अब जाकर गुफा के भीतर आने वाला सूरज का प्रकाश कम होता जा रहा था लेकिन तारिक के आदमी अपने साथ लाइटिंग इक्विपमेंट भी लेकर आए हुए थे और इन लोगों ने अंधेरे में पहुंचते ही लाइटिंग इक्विपमेंट को चालू कर दिया था जिससे यहाँ सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था कुल मिलाकर विक्रांत किसी भी हालत में यहाँ से सुरक्षित बचकर नहीं निकल सकता था थोड़ी देर तक और भीतर की तरफ चलने के बाद यहाँ अंदर गुफा की दीवार पर नमी छाई हुई थी ऐसा लग रहा था कि अंदर वाकई में काफी सारा पानी जमा हुआ है थोड़ी देर तक चलते रहने के बाद अचानक से गुरुजी बोल पड़ा अरे कहाँ जा रहे हो अंदर सिर्फ पानी है पानी नदी है वहाँ वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं है वहाँ अंदर कोई खजाना नहीं है ये तुम सबको बेवकूफ बना रहा है गुरुजी ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा